इस मुंडक उपनिषद का शांति पाठ भी वही है क्योंकि ये भी अथर्वेदी उपनिषद है ओम भद्रंग कर्णे सूर्या होते हैं ब्रह्म विद्या में ये तो आदि भौतिक बाधाएं है तो इतनी खास नहीं होते इसको तो आप सहन कर सकते हो ना अरे बढ़िया कमरा नहीं मिला रहने को कोई बात नहीं सीलन वाला कमरा मिल जाए चलेगा थोड़ी जुकाम खांसी हो जाएगी और क्या बिगड़ेगा पढ़ाई में तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना भौतिकी संसाधनों में बिगाड़ जो आध्यात्मिक जो दुख है इसको तो आप किसी तरह से झेल करके विद्या को प्राप्त कर सकते हैं क्वचित होते हैं तो उसे भी झेल नहीं पाते हैं गैस की बीमारी से भाग जाते हैं लेकिन अधिकतर लोग झेल लेते हैं लेकिन आदिदेवी की जो बाधा है ना इसको झेलना बड़ा कठिन था आगे भौतिक की बाधा भी दे झेल लोग अरे आंधी तूफान बारिश धूप तरह कैसे आ रहा है फिर भी आप किसी किसी उपाय को अपना करके विद्या अध्ययन में लगे रह सकते हैं आध्यात्मिक बाधाएं और आदि भौतिक बाधाओं को आप आसानी से दूर कर लेंगे विभिन्न प्रकार से या तो सहन करके या विभिन्न संसाधनों को अपना करके भौतिक संसाधनों के द्वारा ही इनको दूर किया जा सकता है लेकिन आदि देवी की जो बाधा है वो तो अदृश्य है पता ही नहीं चलता दिमाग को गोल कर देता है ऐसी बाधा खड़ा कर देंगे आपको पता ही नहीं चलता बाधा है आपको बुलाएंगे महाराज हमारे यहाँ आ जाइए सप्ताह की कथा है आपको हम पांच हजार रुपये दक्षिणा देने के भाग जाएंगे छोड़ छाप के पढ़ाई हमारी देवी की बात है वो अकल में नहीं आया तो पांच हजार बड़ा नहीं है ये जो एक हफ्ता की पढ़ाई छूट रही है हमारी वो ज्यादा नुकसान है वो दिमाग में विवेक जगता नहीं कोई कहेगा हमारे यहाँ जो है महंत की गद्दी खाली है ब्रह्मचार्य पधारिये आप चले जाएंगे तो छोड़ छाड़ के कहेंगे चलो भाई बड़ा मुश्किल से मिलता है मिल रहा है तो पढ़ाई तो बाद में अगले जन्म में हो जाएगा ये सब आदि देवी की बाधाएं हैं देवता लोग ऐसे माया जाल को बिछा देंगे तो आपको भद्रम सुनने को भी नहीं मिलेगा कल्याण मैं इस श्रुति स्मृति वेदांत श्रवण करने का भी अवसर नहीं मिलता इसलिए कहते हैं भोले वाहा वयम सदा कर्ण ही भद्रमेव श्रोयाव हम सदा इन कानों के द्वारा वेदांत का निरंतर श्रवण करते रहे यही हम जो है आप देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करो कि बाधाएं मत डालो भद्रम पश्चिम अक्षिपर जत्रा जत्रा यजत्रा मैंने यजन के यागवादियों को रक्षा करने वाले देवगण आप लोगों से हमारे प्रार्थना है हम आंकों के द्वारा सदा भद्रम एवं पश्चिम कल्याणकारी पदार्थों का ही दर्शन करते रहे आदर्शनीय पदार्थों का दर्शन कभी न हो क्योंकि आदर्शनीय पदार्थों का दर्शन जो है देख करने से क्या होता है क्योंकि आपके अंदर में अनंत जन्मों को जो बिता करके आए हुए उसकी जो वासनाएं हैं वो वासनाएं जग जाएंगे और आप अवांछनीय अदर्शनीय पदार्थों को भी चाहने लगेंगे ये हमारी हो जाए ये हमें मिल जाए ऐसी भावनाएं बन जाते हैं वासनाएं उठ जाते हैं तो इसीलिए प्रार्थना है कि हमारे चक्षु भी कोई अवांछनीय और अदर्शनीय पदार्थों का दर्शन न करे ऐसे आप कृपा करते रहे क्योंकि ये दो ही है बहुत ही खतरनाक इंद्रिया ये दो इंद्रिया बहुत ही खतरनाक इंद्रिया है आंख और कहा सुनेगा नहीं वहां पर हम कह रही चलो चलो चलो भागता है और वहां जाके कुछ ना मिले धक्का ही मिल जाए लेकिन जरूर जाएगा कि सुन लिया ना आए कोई बड़े किसी सीनियर आए हैं अगर रविशंकर जी आए चलो भाई भागो देखो क्या हो रहा है भाग देंगे तो ये कहा ऐसी खतरनाक चीजें पता नहीं ऐसी वासना को जगा देगा को बैठने ही नहीं देगा दौड़ा ही के रहेगा और हम तो फिर कहना है कि वो तो लट्टू हो जाएगा आराम से देख लिया था चौबीस घंटा यही वैश्विक यही हमको मिल जाए और यही अपना हो जाए इसलिए लड़का पहले कहता मैं शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा फिर एक लड़की को दिखा दे मेरे को भाई इतनी है ऐसी है अरे हाँ ठीक है <laughs> तो ऐसा दिमाग गोल हो जाए चौबीस घंटा वही है और माँ बाप भी छोड़ देगा सबको छोड़ देगा तो आम कितनी खतरनाक एक से खतरनाक हो जाती दोनों के दोनों और तीसरा खतरनाक वस्तु है ये जो जुबान बहुत खतरनाक है यूं इसमें दो बैठे हुए हैं एक बोलना भी है खाना भी है रसास्वादन तो भी करता है शब्दोत्पादन भी कर लेता है मतलब से झूठ छल कबड़ बेईमानी सब कुछ कर देता है ये भी नहीं विवेक करता है इससे क्या होगा इसलिए वाणी जिसके द्वारा आज जिहरा भी है उसके अंदर रसनेन्द्र भी है अंगों को पुष्ट करते हैं इन अंगों की पुष्टि भी किस लिए होना चाहिए ये भी सोचना है इधर स्थिर अंग स्तुटवान सो तनुगिर्विषीम देव हिदंजलायु हो स्थिर अंग ही तनु ही स्थिर अंगों से विजित शरीर के द्वारा शरीर के द्वारा अंगों और शरीरों से स्तुति करते हुए तुष्टवान सा स्तुति करते हुए स्तुति कुरवाना वयम स्मार समस्त आयु जो आयु हमारी यद आयु हो खो देवा हितम एव विषय आपका हित में आपकी सेवा में ही व्यतीत कर डालू ये हमारी प्रार्थना है कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं तनु भी का तो श्रुति भी करके भी ले लिया है श्रौद कर्मों के द्वारा हम आपकी निरंतर सेवा करते रहे कि अन्य कर्मों से देवताओं का सेवा नहीं मानी जा सकती है श्रोत कर्मों के द्वारा ही देवताओं की सेवा हो सकती है इसलिए देवहितम हितम भी अलग पाठ भेद है हे देवा एक वचन जाति को लेकर भो देवाहा यही अर्थ देना चाहिए भो देवाहा हितम देव यत आयो विषेमा हित परक ही कल्याण परक ही आप सबकी सेवा परक होकर या हितम मने निरोधादि गुण विशिष्टम देवसन हितम यत आयो निरोगादि गुण विशिष्ट जो मेरी आयु है वो सारा का सारा विषय ऐसा कर ऐसी ही हमें आयु प्राप्त हो अथवा देवहित याग के लिए ही संपूर्ण आयु व्यतीत हो दो अर्थ पाठ वेद यदि हे देव संबोधन कर दोगे तो अलग अर्थ हो जाएगा यदि देव हितम को एक पद मानोगे तब अलग अर्थ हो जाएगा देवताओं का हित के लिए ही यागादियों का संपादन करने में मेरे समस्त आयु व्यतीत हो एक करती हो गया और हे देव अलग कर दोगे हितम ये आयो हितम ये आयो ऐसा अन्वय हो जाएगा जो मेरा हित युक्त अर्थात अंगारी संतुष्ट होकर के निरोग गुण विशेष से युक्त मेरा जो शरीर के द्वारा उस उत्कृष्ट आयु को ही मैं प्राप्त करूं प्राप्त करके क्या करोगे विभिन्न प्रकार के यापन को ही तो करना है इसलिए ये जब संबोधन के साथ ये बात प्रकट कर चुके हैं और प्रार्थना करते हुए कहता है स्वस्थ न इंद्रो वृद्ध सर्वाहा पहले सामान्य प्रार्थना हुई भो देवा संबोधन था भो और हे देवा इस प्रकार संबोधनों के द्वारा सामान्य प्रार्थना हुई समस्त देवताओं के प्रति अविशिष्ट प्रार्थना करते हैं वृद्धश्रवा इंद्र भोर दश्रवा भोर इंद्र न अस्तु अथवा इंद्र प्रथमा दे लो इंद्र मैंने वृद्धश्रवा वृद्ध है मैंने ब्रत है श्रव मैंने कीर्ति जिसका विशाल कीर्ति वाला जो इंद्र देवता वह हमारा कल्याण करे स्वस्ती न पूषा विश्व वेदा विश्वमेव व्यक्ति थी विश्ववेदा समस्त विश्व को जानने वाला तो पूषा नामक जो देवता सूर्य वह सूर्य भगवान जो है ना हम सब कल्याण करे ना स्वस्थ रस्तो स्वस्थ रस्ताक्ष और ताक्ष गरुड़ भगवान और जो कि नेम ही अर्थात जो है अप्रतिबद्ध गति वाला है नेमी मैंने गति प्रतिबद्ध गति हृष्ट नेमी अरिष्ट नेमी मैंने अप्रतिबद्ध गति वाला जो गरुड़ जिसके गति को कोई रोक नहीं सकता गरुड़ का गति का कोई बाधक नहीं बन सकता जो अपने आप को मनोजवम मार्ग तुल्य वेगम कह दिया लेकिन उसको भी कांख में बांध करके चल पड़े गरुड़ भगवान बता दिया बगल में हनुमान जी जब तो गर्व भंग करने का प्रसंग आता है वहां पर आया प्रसंग सुदर्शन के भी गर्व भंग किया हनुमान जी का भी सत्यभामा का भी उस प्रसंग में ऐसा वर्णन आया है ये गर्व ने कैसे किया था इन लोगों को जिलेबी जैसे चला दिया सुदर्शन चक्र मुंह में जिलेबी जैसे रख लेते हो आप वैसे रख लिया उसको तो हनुमान जी को भी बगल में लगा दिया मतलब मारुत वेगम कहा जाएगा फंस गया वेग रहित हो गया मनोजलम थे इसलिए वो सब के सब प्रतिबद्ध वेग वाले ये रुद्र का स्वरूप है हनुमान जी क्या है शिव का ही अवतार है शिव के अनेक रूपों में से क्या एकाश रुद्र है उनमें से एक रुद्र का अवतार है लेकिन शरीर में आने के बाद तो भी मारा सकता है उस दुराभिमान को भंग करने के लिए इसने उसके लिए किया और उसके अंदर को मंत्र ने इसने किया दोनों का कथाएं अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं मिले तात्पर्य आप ही अभिमान भंग से तो कहा प्रतिबद्ध गति वाले हैं गरुड़ भगवान ऐसा वह प्रतिबद्ध गति वाले हमारी भी गति ब्रह्मविद्या की प्राप्ति आप प्रतिबद्ध हो इसलिए आप प्रतिबद्ध गति वाले उस गरुड़ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण करें स्वचिनो बृहस्पति धातु और बृहस्पति जो देवताओं के भी गुरु है वे भी हम पर सदा कल्याण को प्रदान करें ताकि हम भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में असफल न हो सफल ही सदा हो इस तरह से उन सब से कल्याण की प्रार्थना विशिष्ट रूपेण भी कर दिया गया भाष्यकार कहते हैं ओम ब्रह्मा देवानाम इत्यादि आथर्वणोपनिषद ये अथर्वेद का मंत्र भाग का उपनिषद है मुंडकोपनिषद कुछ लोग इसको सौलत शाखा का मानते हैं लेकिन आपने पहले देखा था प्रश्नोपनिषद ये आरम्भ में आनंद गिरिकार ने इसको पिपला शाखा का ही जताते हुए कहा इस मुंडक के कौन से मंत्र की व्याख्या किस प्रश्न में किया गया है ये मंत्र भाग का है वो ब्राह्मण भाग का है इसलिए एक ही शाखा का होने से इसकी व्याख्या उसमें ऐसा कथन करना उचित बनता है अतएव पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर संबंध को देखते हुए आनंदगिरी कार के द्वारा किया हुआ और भाष्यकार का कथन भी पूर्वोत्तर संबंध में था प्रश्न परिषद के भूमिका में उसके अनुसार जो स्पष्ट ही मालूम होता है ये पिपला शाखा का ही है लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं स्वर्ण शाखा का है क्योंकि वहां पर भी यही उपनिषद है लेकिन यहाँ जो लिया गया है भाष्य कारण के द्वारा भाष्य लिखने के लिए उपकुलाशा का, का ही मानना चाहिए है मंत्र भाग का इसका व्याख्या ब्राह्मण भाग प्रश्नोपरिषद था अस्यास्य विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपरिक लक्षण संबंध मादार आदो एवा स्वयं व्यवस्थित अर्थम ये उपनिषद पढ़ने के पीछे भी बड़ा रहस्य है मुंडकोपनिषद कैसे पढ़ना चाहिए किसको कौन है अधिकारी इसको पढ़ने का खुद ही तपस्या किए बिना करने से इसका फल भी नहीं और है कठिन काम एक साल तक मिट्टी के बर्तन में अग्नि को जलाते हुए रखना है और उसको प्रसाद पर पर रखे बैठे रहना है केवल शौच स्नान आदि के समय में ही उसको हटाना है बाकी समय में नहीं हटाना निद्रा जय के लिए ट्रेनिंग एक तरह से बैठे बैठे सोना पड़ेगा सो भी नहीं सकते आप सर पर रखे रहना है उसको केवल स्नान शौच के लिए उसको उतार के रखने का नियम है बाकी पूरा समय आपको 24 घंटे दो चार घंटे उसको छोड़ के अन्य 20 घंटे बैठाए रहना है उसको सर पे रख करके और कुछ उसके व्याख्या दूसरे ढंग से कर ऐसा करो इतना कौन कर पाएगा आज के जमाने में इसकी अर्थ बदल देते हैं जो अभिमान रूपी अग्नि आप ज्वलित है जिसकी वजह से उठाव रहता है हमेशा अहंकार से तनाव रहता है व्यक्ति उस अहंकार रूपी अभिमान को अपने हाथ पर रखा हुआ जो व्यक्ति वही मुंडो को परिषद के अधिकारी है अभिमान रहित होकर के ही अध्ययन करना ऐसा कुछ उसकी व्याख्या कर देते हैं यदि यह स्पष्ट आ गया है वो मंत्र अधिकारी के बारे में तो सर पर ही अग्नि को करना चाहिए और इस परंपरा वाले हमने एक दो व्यक्ति को देखा दक्षिण भारत में उड़पी एक जगह है उससे करीब 40 किलोमीटर दूर में 40 भी नहीं होगा मल पे एक जगह पड़ता है वहां ने देखा था दो जवान लड़के अठारह उन्नीस उम्र के थे और इस पर सर पर रखे हुए हैं और उसको केवल अग्नि को संभालने के लिए उतारते थे कंडा डालना उसमें उसी में हवन करना नित्य होम भी उसी में करना फिर को हटाना फिर अग्नि उसको स्थापित फिर ऐसे रखना ऐसे ही करते रहे दिन भर ऐसे बैठे ही रहते थे इसीलिए चुक नहीं सकते नींद आ जाए तो लकड़ी का एक बना रखे थे यहाँ योग करके बैठे वही सो जाते ताकि सर नीचे न झुक जाए नींद के बड़ी कठिन से मैंने के तो कमाल कर दिए इन लोगों ने दो ही लड़कों को देखा वो कहते कोई इसको तैयार नहीं हुए वहां गुरुकुल है संस्कृत गुरुकुल तो उन्होंने कहा जो चाहो सो विद्यार्थियों को इसमें निश्चित कर दिया जाएगा तो दो ही विद्यार्थी तैयार हुए तो ऐसे आज भी है इस कलयुग में भी करने वाले कर रहे हैं परंपरा सुरक्षित है तो उस प्रकार से करने वाला व्यक्ति ही उसको प्राप्त कर सकता है इसी गुरु परंपरा से प्राप्त करना चाहिए इसे गुरु परंपरा को ब्रह्म विद्या की संप्रदाय विद्या संप्रदाय कर्त पारंपरिक विद्या के संप्रदाय के कर्ता और उसकी परंपरा रूपी जो इस विद्या के अंदर जो है उसको सर्वप्रथम मंत्र में कहा ब्रह्मा जी दे उन्होंने अथर्वांगी रस को दिया अथर्वांग अमुक को दिया ऐसी परंपरा कि क्यों बताना पड़ा संबंध महादेवा स्वयं स्वयं श्रुति कह रही है अस्या है स्वयं आहा कदम स्तुत्य स्तुति के लिए क्यों तो शुद्धि करना चाहते हैं शुद्धि करके क्या बोध करना चाहते हो एवं महति परम पुरुषार्थ साधन गुण आया आया तेन लब्धा विद्या श्रोत्री बुद्धि प्रयोजना विद्या मही करो दी विद्या की पूज्यता विद्या की स्तुति इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि महान पुरुषों के द्वारा महत्व ही परम पुरुषार्थ साधन महापुरुषों के द्वारा कर्म पुरुषार्थ साधन रूपेणा गुरु आयास है ना महान आयास के द्वारा विशेष प्रयत्न करके ही विद्या लब्धा विद्या का लाभ हो सकता है इति श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनाय श्रोताओं की बुद्धि को जो है जागृत करने के लिए सचेत करने के लिए ही यह विद्या की स्तुति की गई है स्तुत्या प्ररोचितायाम विद्याम सागरा प्रवर्तेरन स्तुति के द्वारा प्ररोचित हुई बुद्धि स्वयं ही एकदश विद्या को बड़ी आदर के साथ अवश्य ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती है यह मान करके विद्या की स्थिति की गई है प्रयोजन तो विद्या साध्य साध लक्षण संबंध उत्तर अक्षति और प्रयोजन के द्वारा इस विद्या रूपी साधन का मोक्ष भी साध्य के साथ साध्य साधन भाव रूपा संबंध है स्वयं आगे में विदित हृदय ग्रंथ छिद्यंदे सर्व संशया इत्यादि श्रुति मंत्रों के द्वारा यहीं पर कहने वाले हैं अत्र अपर वाच्यम वाच्याम ऋग्वेदादि लक्षणायाम विधि प्रसिद्ध मात्र परायाम विद्याम संसार कारण अविद्या दोष निवर्तकत्व नास्ती स्वयं उक्ता परापर विद्या भेद करण पूर्वक अविद्या मंत्र वर्तमान इत्यादि ना और दूसरी बात ये भी बता दिया कि सुवर्ण उपनिषद में कि अपर विद्या आप जितना भी अभ्यास कीजिए इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं होगा जब तक परब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं करते तब तक जो है ये अपरब्रह्म विद्या को लेकर के जनन मरण के चक्कर से कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता अपर शब्द वाच्यायाम ऋग्वेद आदि रक्षणायाम अपर शब्द वाच्य कौन है ऋग्वेद आदि रूपा जो कर्मकांड प्रधान विधि निषेध प्रधान विधि प्रषेध प्रधान होता मात्र परायाम विद्यायाम तादृशी विद्याओं को मैं संसार कारण भूता जो अविद्या दोष के निवर्तकत्व नास्ती अविद्या दोष का निवर्तकत्व अपरा विद्या में कभी नहीं हो सकती ऐसा स्वयं ही यहाँ पर मुंडको परिषद में कथन करके परापर विद्या भेद करण पूर्वक पर और अपर विद्याओं का भेद पूर्वक समझा दिया गया है विद्या चे दवे पराच अपराच ऐसा मंत्र में शुरू में ही कहेंगे और अविद्या मंत्र वर्तमान इत्यादि मंत्रों के द्वारा अविद्या का फल संसार ही है अपर विद्या का फल संसार ही है ऐसे कर दिया तथा पर प्राप्ति साधन सर्वसाधारण साध्य विषय वैराग्य पूर्वक गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्याम आह और दूसरा जो है पर विद्या कैसे मिलेगी ऐसे आसानी से मिलने वाली नहीं है परीक्षा रोगदान कर्मचार निर्वेदन नास्ते कर इत्यादि मंत्रों को यहाँ पर ही बोलेंगे इसलिए कहते हैं पर ब्रह्म की पर विद्या की प्राप्ति का जो साधन क्या है सर्व साध्य विषय वैराग्य पर्व का सकल प्रकार के साधन और उन साधनों के प्राप्ति जो साध्य उन सकल साधन साध्य विषय तो वैराग्य पूर्वकम वैराग्य पूर्वक ही ब्रह्म विद्या प्राप्ति ऐसा भी नहीं हो रहे बीच में श्रोत ब्रह्म ब्रह्म जो कहा है उसको लेकर कहते देखो गुरु प्रसाद लभ्याम विद्या गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं है यह विद्या है ब्रह्म विद्या महा कहा है इसको परिषद में कहा परीक्षा लोका विद्या प्रयोजन चाह और प्रयोजन भी एक बार नहीं अनेकों बार विभिन्न शब्दों के कहा गया ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती परामृता प्रविचिंत सर्वे विद्यंते करती इत्यादि अनेक मंत्र है विचार कल इतना हुआ था कि भाई ज्ञान कर्म का अंग हो नहीं सकता कर्मांग ज्ञान का विधान नहीं है ज्ञान स्वतंत्र मोक्ष का फल प्रदान करने में समर्थ है सक्षम है इसलिए क्योंकि विद्वान करो इत्यादि मंत्र है उसे विद्वान को लेकर ज्ञानी को ही कर्म करना चाहिए ऐसा पूर्व पक्षी की अर्थ संभावना है तो उसी को खंडन करने के लिए अभी तक जो विचार हुआ था कि अविद्या मंत्र वर्तमान इत्यादि मंत्रों को दिखाया विधि देगर ग्रंथि भविष्य लोकान कर्मचितान इत्यादि अनेक मंत्रों के द्वारा निर्णय दिया वास्तविक प्रयोजन जो असकृत कह चुके हैं ब्रह्म ब्रह्म भवती परामृता पर धीरा इत्यादि अनेक मंत्र है जहाँ ज्ञान का साक्षात फल केवल ज्ञान का साक्षात फल है कर्मांग ज्ञान का फल नहीं है और कर्म समुचित ज्ञान का भी फल मोक्ष में उसके लिए दूसरा आरंभ होता विचार ज्ञान मात्र यद्यपि कर्म का अंग ज्ञान भले ही न हो इन कर्म से मिल करके ही ज्ञान मोक्ष को देगा ऐसा माना कर्माधीन होकर कर्मांगत्व ज्ञान भरे फल देने वाला न हो क्यों तो कर्म और ज्ञान दोनों मिल करके साथ साथ जुड़ करके ही मोक्ष को फल देंगे उस बात का खंडन करने के लिए आरम्भ करते यहाँ से पूर्व पक्ष आरम्भ करेगा ज्ञान मात्र यदि सर्वाश्रम नाम अधिकार यद्यपि ज्ञान मात्र में सगल आश्रम वालों का अधिकार इसमें कोई संशय नहीं है चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो सबको ज्ञान प्राप्त हो सकता है सबको ज्ञान अधिकार है इसमें कोई संशय नहीं है तथा भी संन्यास निष्ठा एवं विद्या मोक्ष साधन कर्म संहिता फिर भी संन्यास निष्ठ ही ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन है संन्यास निष्ठा मैने कर्म रहित संन्यास निष्ठ मैने त्याग त्याग से कर्म त्याग लेना कर्म त्याग से युक्त होकर के ही जो ब्रह्म विद्या है वो मोक्ष साधन देती है कर्म सहित ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन ऐसे न समझे खाते फिर गृहस्थी में रहकर कर्म कैसे त्यागेगा तो बड़ा दिक्कत है फिर उनको संन्यास निष्ठा ब्रह्म विद्या प्राप्ति नहीं हो सकेगी तो हम क्या करें उसके लिए वहां गृहस्थी में रह करके वानपस्थ में रह करके या ब्रह्मचरी में रह करके जनक के समान सर्वस्व त्याग पूर्वक अहंता ममता का त्याग पूर्वक जो व्यक्ति ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कर नहीं सकता उसको ज्ञान आदि का रहते हुए भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता भले ही ज्ञान है ये तो गृहस्थी वामपस्थी ब्रह्मचारियों को कर्माधिकारियों को लेकर के विचार कर रहा है ना बल्कि आज के हिसाब से हम एक कदम आगे बढ़ के बोल सकते हैं कि संन्यास रहने के बावजूद भी ब्रह्म विद्या से मोक्ष का कोई गारंटी नहीं है आप भले संन्यास ले लीजिएगा कि संन्यास लेने से ब्रह्म विद्या पच जाएगा और आपको अनुभूति होगी ये असंभव है क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अज्ञ सन्यासी के लिए अनेक प्रकार की विधियां इसलिए बताई गई पूर्व पक्षी के संशय का कारण यह है कि सन्यासियों को भी कर्म का विधान किया है क्यों विधान दिया इसका मतलब कर्म सहित ब्रह्म विद्या ही मोक्ष देगी तभी तो सन्यासी को कर्म का विधान हुआ अरे क्या क्या कर्म का विधान हुआ टिप्पण का बड़ा सुंदर दे रहे सब एक आलिंगे गुदे तीसरा तथा वाम करे दश उभय सप्तव्या मृद शुद्धि नवीप सदा एक गृहस्था नाम पंद्रह नंबर टिप्पण द्विगुणम नाम त्रिगुण दो वनस्थान ये नाम तो चतुर्गुणम कहते हैं कि जब लघु शंका करें या शौच करें तो एक बार लिंग में तीन बार गुदा में मिट्टी के द्वारा शुद्धिकरण करना चाहिए तथा वाम करे दशो बाया हाथ से शौच को साफ किए हैं इसलिए बाया हाथ को दस बार मिट्टी लगानी चाहिए उभर वो सप्त दातव्या फिर दोनों हाथों के लिए सात बार केवल बाएं के लिए दस बार धो फिर मिट्टी लगाओ फिर धो फिर दोनों हाथ में सात बार लगाओ सात बार धो इत्यादि स्मृति का वहां पर क्या कहा क्या लगानी चाहिए मृदा जातव्य शुद्धिम मृत्यु का लगानी चाहिए शुद्धि को चाहने वाला मौलाना साहब लोग ईंट से साफ करते ईंट उपयोग करते ईंट का टुकड़ा होता है जेब में हमेशा किस लिए तो इसीलिए केवल लिंग को धोने के लिए वही से रगड़ देंगे तो शुद्धि हो गया मृदा कर मिट्टी से ये अंतर ये तौसम तो गृहस्थान ये गृहस्थों के लिए भी है इसका दो गुना किस लिए कहते हैं कि भाई द्विगुणम ब्रह्मचारी नाम ब्रह्मचारी को दो गुना करना पड़ेगा दो बार लिंग में छह बार गुदा में बीस बार बाया हाथ में चौदह बार दोनों हाथों में और आगे बढ़ के क्या त्रिगुणम वन वाहन प्रतिवती गुणा तीन गुणा तीन बार लिंग में तीन दिया नौ बार गुदा में तीस बार राम घर में और इक्कीस बार दोनों हाथों में यतियों की बात यति नाम दो चतुर्गुणम चार बार लिंग में बारह बार गुदा में चालीस बार बाया हाथ और अट्ठाईस बार दोनों हाथ कितना समय लगेगा इसमें और ठंडी में तो अभी यो हाथ खराब हो जाए तो हाथ धोते हाथ हाथ धोते प्रातः तो मध्यान्ह स्नान वाहन प्रस्थ गृहस्थ हो भिक्षुणाम त्रिशवणम एकम एकम तु ब्रह्मचारी नाम व्यास स्मृति में लिखा प्रातः और मध्यान्ह दो बार वाहन तत्व को स्नान करनी चाहिए और गृहस्थ को भी स्नान करना चाहिए दो बार बिछोणाम त्रिशवणम प्रातः मध्यान सायं तीन बार ब्रह्मचारी मर्जी से एक बार एकम ब्रह्मचारी नाम घर लिया ये सब कर्मकांड की व्यवस्था दिया है यम नियम शौचालयों का वर्णन दिए रहे हैं शास्त्र का सात घर में ही भिक्षा हो क्यों ऐसे कहा और सात घरों में भी ये देखो ये ब्राह्मणों का ही घर में हो जाए तो अति उत्तम और ध्वजी आदि उनका कभी नहीं इसलिए पहले जमाने जो घर में मर्डर वर्डर तो कर दिया वो अपने ध्वजा लगाता था कि हम जो है पापी हैं तो उस ध्वज को देख करके आदमी समझता है घर वाले घटिया किस्म के लोग है हवा भिक्षा लेना लेना आपकी मर्जी इस तरह से नियम था सब और जो अपने ही भाई बंधु को मर्डर कर दिया उसका तो नियम है जो खोपड़ी है कपाल उसको डंडे पे लगा करके गांव गांव घूम के खबर दो कि मैंने पाप किया है और सब थूक करके उसको भिक्षा मांगना पड़ेगा अपने कमा के पका के नहीं खा सकते न कमा के खा सकता उसको लेकर सब गांव गांव घूमेगा और सब घर भिक्षा मांगेगा कौन देगा उसको भिक्षा ऐसे आदमी को गाली दे करके तो देंगे तब जाकर उसके पाप का शमन होता है भी विधिया है ना ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति से नहीं लेना विधि किस लिए केवल ज्ञान मोक्ष रहता है जैसे आजकल कई जो संस्था के लोग उपदेश देते हैं तो जान लिया तुम ब्रह्म बात खत्म हो गया हो गया तुम ब्रह्म ज्ञान मोक्ष हो गया तुम्हारा खत्म यू नो दैट ब्रह्म फिनिश बात खत्म कुछ जरूरत ही नहीं होते लेकिन सब इसलिए कह रहे थे कहा अंतिम पंक्ति त्रिश्रवण स्नानादि विद्यादे है अज्ञ संन्यास विषय ये सब कौन जो अज्ञ सन्यासी है विदुषु सन्यासी है विद्वत सन्यासी की बात नहीं जिसे ब्रह्मानुभूति कर लिया है उसके लिए नहीं है ये सब अविद्वत सन्यासी उनके लिए है इसे कहते तार सन्यासी नाम कर्म साधन से स्वस्थ अभाव न कर्म संभव उनका अपना तो कर्म ही नहीं रहा मैं और मेरा नाम का चीज ही नहीं रहा जिस ब्रह्म ज्ञानी में उसके कर्म का विधि निषेध लागू नहीं होता अतः कर्म निवृत्ति साहित्यम ज्ञान से न कर्म नहीं करता इसीलिए कर्म निवृत्ति से ही ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है कर्म और सहित ज्ञान से मोक्ष का कथन असंभव है वापस जाइए वैश्विक न कर्म सहिता इसलिए संष्टा एवं ब्रह्म विद्या मोक्षाधम न कर्म संहिता इसमें क्या प्रमाण है वैक्ष्यचर्या चरंद संन्यास योगा इत्यादि इसी मुंडकोपरिषद में कहेंगे चुरुवन दर्शेगी ऐसा कहते हुए इस सिद्धांत को स्पष्ट दर्शाया गया है दूसरा हेतु तो क्या है विद्या कर्म विरोधाच विद्या और कर्म इन दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के में अधिकार में भेद है विरोध विद्याधिकार सर्वस्व त्याग में और कर्माधिकार सर्वस्व ग्रहण में जो अहंता का ग्रहण कर बैठा है वो कर्माधिकारी है चाहे किसी चौड़ा में हो किसी आश्रम में हो किसी वर्ण में हो वह सर्वधर्माधीन होकर के विधि निषेधाधीन होकर उसको जीवन यापन करना पड़ेगा जो अहंता ममता को त्यागा नहीं है जो ये सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं या मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं या ये सोचता है संन्यास आश्रम वाला हूं तो ऐसा सोचने वाले को भी विधि निषेध लागू हो जाएगा अपने आप को सन्यासी क्यों माना तुम तुम ब्रह्म नहीं मान रहे हो अपने आप को कोई सन्यासी मान रहे हो ना तुम ब्रह्म नहीं हो तो फिर करो कर्म का बोले चालीस बार दो या तो मानो ही नहीं मैं सन्यासी हूँ ये भी मानो मत संन्यास आश्रम वाला हूँ ये भाव त्याग दो अहमता का त्याग दो तो एकादशी जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसी के लिए बात कही जा रही है संन्यास ज्ञान अधिकार की बात है जो ऐसा अधिकारी नहीं है जो अहंता ममता से संपन्न है आश्रम की अहंता है या वर्ण की अहंता है ममता है तो वह सोपालिक व्यक्ति है वह निरुपारिक स्वरूप की ओर जा ही नहीं रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए सब विधि नियम निषेध लागू हो जाएगा इसी को इन्होंने कहा अज्ञ संन्यासी विषय आनंद गिरी का इसीलिए नहीं ब्रह्मात्मिक दर्शन सह स्वप्न भी संभावित स्वप्न में भी कोई कल्पना करे कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष देगा वह असंभव है स्वप्न भी ब्रह्मात्मक दर्शन सह कर्म संपादित शक्यम इति नहीं नहीं कर्म संपादित शक्यम कर्म जो है स्वप्न में भी ज्ञान के साथ मिलकर मोक्ष को संपादन करने में समर्थ है ऐसा आप सोच नहीं सकते क्यों क्योंकि विद्या या काल विशेष अभाव विद्या या काल विशेषाभाव काल का विशेष में काल संकोच नहीं है काल संकोच विद्या में क्योंकि कर्म में क्या है काल संकोच है आप काल से परिच्छिन्न होकर व्यवहार सब कुछ कर रहे हैं प्रातः काल अगर लो सायंकाल अब जैसे त्रिश्रण शाम स्नान गया आपको ध्यान रखना सुबह कब है दोपहर कब है शाम कब है ये सोचना तो पड़ेगा सुबह दोपहर शाम का विवेक करना पड़ेगा तारस विवेक पूर्वक तत्काल में जीवित मई हूँ ऐसे अपने आप को तत्काल संबंधी अहमता को स्वीकार के बिना तत्कालीन कर्म को आप कर नहीं सकते यदि आप ये मान के चल रहे हैं मैं त्रिकाल आती थोक के स्वरूप में विद्यमान रहने वाला हूँ तो काल से परिचन्न कैसे होगा उसके लिए काल है कहा कि प्रातःकाल सवा स्नान करेगा वो और विद्या के लिए काल का कोई भी बाधक नहीं है चाहे दिन में हो चाहे रात में हो और भगवान ने स्पष्टी कहा ज्ञान ही पवित्र करने वाला है नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्र यह विद्यते तो ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कोई तो साधन ही नहीं है और ज्ञान का कोई नियम नहीं कि सुबह ही पढ़ना पड़ेगा क्या इस सुबह आप वेदांत पढ़ गए तभी आपको वेदांत मोक्ष देगा ऐसा तो कोई न विधि है न नियम है आपको अपने स्वरूप को जानने के लिए कोई काल आदि काल देश आदि नियम बंधन नहीं है इसे इनका कहना है काल विशेषाभाव अनियत निमित्त तत्व कहने का मतलब कोई नियत निमित्त वाला वो नहीं है काल संकोच अनुपत्ति अतः काल संकोच करके आप कहोगे मैं कर्म सहित ज्ञान करने लगोगे तो कर्म जिस काल में होगा उसी काल में ज्ञान भी अभ्यास करोगे तब जाकर के मोक्ष देगा इस तरह से काल संकोच करना बिल्कुल उचित नहीं होता है ये तो गृहस्थेश विद्या संप्रदाय कर्तव्य लिंगम एवं कहते हैं बहुत सारे जो है उपनिषदों में भी कहानियां है जनकारी तो सुप्रसिद्ध कहानी है जहाँ पर गृहस्थी में रह करके ब्रह्म है तो कैसे कहते हो संन्यास निष्ठा एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन भवती यह आपका कथन गलत है पूर्व पक्षी कहता है जो आप मानते हैं कि गृहस्थ ब्रह्म विद्या के संप्रदाय कर्तृत्व आदि को देखने को मिला है वह लिंग वही प्रमाण है मेरे पास उस प्रमाण के आधार पर मैं गृहस्थ को भी कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष मानूंगा ऐसे जो पूर्व पक्षी कहता है कहते न तत्सद न्याय बाई तो उत्साह है लेकिन जो बहिष्चर्य संन्यास योग इत्यादि जो विधियों के द्वारा कहा गया जो न्याय जो सिद्धांत है तत्स्थित न्याय माने निर्धारित जो सिद्धांत है उसका बाधे में यह लिंग समर्थ नहीं है क्योंकि जो लिंग है जो अनुमान है जो ज्ञापक होते हैं शब्द किसी भी श्रुति स्मृति का किसी भी बात को विज्ञापन कराने में स्वतंत्र नहीं होते न्याय युक्त लिंग ही वस्तु का ज्ञापन कर सकता है केवल लिंग वस्तु का ज्ञापन नहीं कर सकता आप भी न्याय दर्शनकार भी मानते क्या केवल हेतु होने मात्र सन्मिति हो जाएगी नहीं साध भी चाहिए साध्य के साथ उस हेतु का अव्यविचारित तो चाहिए और वह अव्यविचारित दृष्टांत में सिद्ध होना चाहिए उसके बिना नहीं मान सकते नहीं तो तर्क दे करके उस हेतु को व्यविचारी साबित कर सकते हैं तो उपाधि आदियों के द्वारा भी हेतु को विचारी सिद्ध कर सकते हैं इसे लिंग केवल अपने आप में किसी तत्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता आपको मानना होगा वह लिंग किसी अन्य की सहायता से ही किसी सिद्धांत को ज्ञापन करने में सक्षम हो सकता है अतएव तो कहते केवल जो आपका यह लिंग है कहीं दो चार कथाओं को देख लिया कि गृहस्थ भी ब्रह्मज्ञानी हुआ है तो इतने मत ये नियम मत बनाओ कि सभी गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं या सभी गृहस्थ कर्म करते हुए ज्ञान समुचित होकर के वो मोक्षाधिकारी हो जाएंगे ऐसा एक सामान्य सिद्धांत आप नहीं बना सकते जो वास्तविक सिद्धांत संन्यास निष्ठा एवं मोक्ष साधन बहुत वह वास्तव स्थित सिद्धांत न्याय को बाढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता न बाधित उत्साह नहीं विधि शतेनावित प्रकाश एकत्व संभव शक्य है कर्तुम किमुत लिंग ही केवल यदि कहते देखो सैकड़ों विधियों के द्वारा भी आप अंधकार और प्रकाश को एक नहीं कर सकते तो केवल लिंगों के द्वारा क्या करोगे जो कि विधि को से कमजोर है लिंग क्या है लिंग क्योंकि श्रुति प्रमाण सबसे प्रबल प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य प्रकट स्थान उत्तर नाम दौर्बल्यम माना गया है तो श्रुति के साक्षात विधि है और लिंग विधि का ज्ञापन कराता है केवल उसके आधार पर आप श्रुति कल्पना करेंगे तब वहां अंदान विभाग वगैरह विनियोग होता है नहीं तो नहीं हो सकता इसे केवल लिंग की अपेक्षा से श्रुति प्रबल है और वह श्रुति भी हजारों शुद्धियां भी लिया बना डालो विधियों को बना डालो लेकिन उतरे बनाने मात्र से अंधकार प्रकाश जैसे एक नहीं हो सकता कर्म और ज्ञान का समुच्चय भी नहीं हो सकता क्यों तेरा तो लिंग ही केवल ही जब विधिशत के द्वारा भी तब प्रकाश में तो संभव नहीं है करना तो केवल लिंगों के द्वारा आप कैसे करोगे अर्थात नहीं कर सकते एवं उक्त संबंध प्रयोजन आया उपनिषद अल्पाक्षर ग्रंथ विवरणम आरभ्य दे इसलिए संक्षेप में मेरे द्वारा कहा हुआ यह जो उक्त जो संबंध और प्रयोजन संबंध गुरु परंपरा आदि के द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए और इनके प्रयोजन का मोक्ष के कथन करने वाली इस उपनिषद के अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम अत्यंत संक्षिप्त भाष्य को हम आरंभ करते हैं समुच्चय वाद को लेकर देखिए बहुत सुंदर लिंग से न्यायोपृत गमगत अंगीकारात समुच्चय न्याय अभाव प्रत्युत विरोध रचनात् न समुच्चय सिद्धि छठे पृष्ठ का गिरी काला पंक्ति पर रहा हूँ लिंग से न्यायोपृत न्याय से उपग्रहित लिंग ही सिद्धांत को सिद्ध कर सकता है केवल लिंग नहीं कोई हेतु कोई गमक कोई ज्ञापक केवल अपने आप में किसी तत्व को सिद्ध करने सक्षम नहीं माना जा सकता है क्योंकि लिंग जो होता है न्यायोपृहत लिंग से गमकत्व अंगीकारा केवल लिंग नहीं न्याय की नहीं निशास्त्र व्याज जिसे निशास्त्र व्याज कह दिया है ना अब वो निशास्त्र व्याज कह करके शूद्र को या कराओ शूद्र से या कराओ कह दिया इसलिए पूरा बढ़ा दो ऐसा अर्थ निकालोगे इससे यह जो लिंग है ज्ञापक शब्द है विधि है इस विधि के आधार पर क्या आप ये निर्णय लोगे कि समस्त वेद शूद्र को पढ़ाना पड़ेगा जो शूद्र समस्त वेद को पढ़ेगा वही निशाल शब्द या अधिकारी होगा ऐसा बना लोगे नहीं बन सकता क्योंकि न्याय वृद्ध स्त्री शुद्धाभ्याम निषेध कर दिया है स्त्री और शुद्धों को कभी सुनाना चाहिए भूल से सुन लिया तो उसे कान में शीशा को पेला कर भर देना चाहिए इस प्रकार से दंडारी भी चोरी से सुनने पर भी इतना भयंकर दंड का वर्णन किया हुआ है वैसे अनर्थक हो जाएंगे इसे न्याय युक्त लिंग नहीं है ये इसे न्याय अयुक्त लिंग होने के नाते केदार से लिंग प्रमाण जहां पर मिल जाते हो वह हमें संकोच करना पड़ता है तो निशास्त्र में से न्याय क्या करता है इस निर्णय ये दिया उस रौद्र जो याग है चरुयाग उस याग संबंधी मंत्र मात्र उस याग संबंधी भी सकल मंत्रों का अर्थ नहीं जो याजमान मंत्र है जो यजमान के अंदर उच्चार्यवान मंत्र होते हैं उतनी ही मंत्रों को उस सूत्र को पढ़ाना है जो सूत्र उस श्रोत्र यागों को करना चाहता है इतना संकोच करना पड़ता है एक लौकिक कर्मनिष्ठ न्याय में और एक ज्ञान की बात है जो पारलौकिक वस्तु है यह तो समझ चुके इसलिए प्रसंग ही नहीं होता और बात कह रहा है कि संप्रदाय प्रवर्तकांच कारस्य आभास मात्र ये जनकारी का दृष्टान को लेकर आप कहते हो गृह